No talk Kaivalya Upanishad number eleven sold, thus bore in the three cities gross, cattle, and orderly bodies, from where all diverse cities have sprung up. When these three bodies have dissolved completely, only then does this jiva become free from maya and attain eternal bliss. From this is born prana, all organs, space, air, fire, water, and earth that support all. सुबह के सूत्र में मनुष्य का मन किस भांति सम्मोहित हुआ जागृत में स्वप्न में और सुसुप्ति में कल्पित सुखों और दुखों में घिरता है कैसे सुख के आभास बनाता है और कैसे दुख के फल भोगता है उस संबंध में बात हुई जागृत स्वप्न और सुसुप्ति इन तीन अवस्थाओं के संबंध में भारत ने बहुत तरह की खोज की है और ये तीन शब्द फिर आपको दिलाऊं याद भारत के तीन की खोज का एक और पहलू उपस्थित करते मनुष्य की तथाकथित जो दिखाई पड़ने वाली स्थिति है वो इन तीन से ही मिलकर बनी मनुष्य का जीवन इन तीन से ही मिलकर निर्मित हुआ है इस मनुष्य के जीवन के पीछे जो छिपा है सार वो इन तीनों के पार है इन तीन से संसार निर्मित हुआ है इसलिए इस सूत्र को थोड़ा ठीक से और गहरे में समझ लेना जरूरी होगा इसके अनेक आयाम हैं पहला तो कि जागृत स्वप्न और सुसुप्ति हमारे मन की ही दशाएं नहीं हमारे जीवन के भी आधार स्तंभ हैं इन तीन पर ही हम खड़े हैं और हम चौथे हैं ये तीन से हमारा भवन निर्मित होता है लेकिन वो जो निवासी है वो चौथा है इसलिए भारत ने उसे तुरी कहा है तुरी का अर्थ होता है चौथा दी फोर्थ उसको कोई नाम नहीं दिया सिर्फ चौथा कहा है इन तीन को नाम दिए उस चौथे को कोई नाम दिया नहीं जा सकता उसके नाम का कोई पता भी नहीं है और उसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती इसलिए उसे सिर्फ चौथा कहा है ये तीन रोज हम इन तीन में से गुजरते हैं सुबह जब आप जागते हैं तो जागृत अवस्था में प्रवेश होता है सांझ जब आप सोते हैं तो पहले स्वप्न में प्रवेश होता है फिर जब स्वप्न भी खो जाते हैं तो सुसुप्ति में प्रवेश होता है 24 घंटे में हम इन तीन अवस्थाओं में बार बार घूमते रहते प्रतिदिन और अगर और सूक्ष्म में देखें तो हम प्रतिपल भी इन तीन अवस्थाओं में डोलते रहते लगता है ऊपर से आप जगे हुए हैं भीतर स्वप्न शुरू हो जाता है जिसको हम देवा स्वप्न कहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्षण भर को आप इस जगत में ना रहे होश ही खो गया तो सुसुप्ति पकड़ जाती 24 घंटे तो हम बड़े पैमाने पर इन तीन अवस्थाओं में गुजरते ही हैं प्रतिपल भी हम तीन अवस्थाओं में डोलते रहते इन तीन अवस्थाओं में हम पूरे जीवन ही डोलते हैं और अनेक अनेक जीवन में भी हम इन तीन अवस्थाओं में घूमते हैं मृत्यु का क्षण सुसुप्ति में घटित होता है मरता हुआ आदमी जागृत से पहले स्वप्न में प्रवेश करता है फिर स्वप्न से सुसुप्ति में प्रवेश करता है मृत्यु सुसुप्ति में ही घटित होती है इसलिए पुराने लोग निद्रा को रोज आ गई मृत्यु का मृत्यु की थोड़ी सी झलक मानते थे निद्रा मृत्यु की झलक है जब आप सुसुप्ति में होते हैं तब आप उसी अवस्था में होते हैं जब मृत्यु घटित होती है या घट सकती है सुसुप्ति के बिना मृत्यु घटित नहीं होती इसीलिए सुसुप्ति में आपको सारा बोध खो जाता है इसलिए मृत्यु की पीड़ा भी अनुभव नहीं होती अन्यथा मृत्यु बड़ा सर्जिकल काम है इससे बड़ा और कोई सर्जिकल काम नहीं है डॉक्टर एक हड्डी निकालता होगा तो भी मारफिया देता है मारफिया देके वो आपको जबरदस्ती सुसुप्ति में ले जाता है तभी आपकी एक हड्डी निकाली जा सकती है ऑपरेशन किया जा सकता अन्यथा असंभव है सब ऑपरेशन सुसुप्ति में होते हैं और जब तक सुसुप्ति ना आ जाए तब तक ऑपरेशन करना खतरनाक है भयंकर पीड़ा होगी शायद ऑपरेशन मुश्किल ही हो जाएगा करना मृत्यु सदा से ही बड़े से बड़ा ऑपरेशन करती रही है पूरे प्राणों को इस शरीर से बाहर निकालना है तो गहन सुसुप्ति में मृत्यु घटित होती है जन्म भी सुसुप्ति में ही होता है इसलिए हमें याद नहीं रहती पिछले जन्म की याद न रहने का कारण सिर्फ इतना ही है कि बीच में इतनी लंबी सुसुप्ति होती है कि दोनों और छोर पर संबंध छूट जाते सुसुप्ति में ही मृत्यु होती है सुसुप्ति में ही फिर पुनर्जन्म होता है मां के पेट में बच्चा सुसुप्ति में ही होता है जो बच्चे मां के पेट में सुसुप्ति में नहीं होते वो मां के स्वप्नों को प्रभावित करने लगते हैं कुछ बच्चे मां के पेट में स्वप्न में होते हैं बहुत कुछ बहुत थोड़ी संख्या में कभी करोड़ में एक आध बच्चा मां के पेट में स्वप्न की अवस्था में होता है लेकिन ये वही बच्चा होता है जिसकी पिछली मृत्यु स्वप्न की अवस्था में हुई हो तिब्बत ने इस पर बड़े प्रयोग किए बारदो इसका नाम है तिब्बत में इसके प्रयोग का तिब्बत में मरते हुए आदमी को सुसुप्ति में न चला जाए इसकी चेष्टा करते हैं अगर सुसुप्ति में चला गया तो फिर उसको इस जन्म की स्मृति मिट जाएगी तो उसको इस जन्म की स्मृति बनी रहे तो मरते हुए आदमी के पास विशेष तरह के प्रयोग करते हैं उन प्रयोगों में उस आदमी को चेष्टा पूर्वक जगाए रखने की कोशिश की जाती न केवल जगाए रखने की बल्कि उस मनुष्य के भीतर स्वप्न को पैदा करने की भी चेष्टा पूर्वक कोशिश की जाती ताकि स्वप्न चलता रहे चलता रहे और उसकी मृत्यु स्वप्न की अवस्था में घटित हो जाए यदि स्वप्न की अवस्था में मृत्यु घटित हो जाए तो वो आदमी आने वाले जन्म में अपने पिछले जन्म की सारी स्मृति लेके पैदा होता है इसे हम ऐसा समझें तो आसानी पड़ जाएगी आप रात भर सपने देखते हैं ये जान के आपको शायद भरोसा नहीं होगा अनेक लोग कहते हैं कि वे सपने देखते ही नहीं सिर्फ उनको पता नहीं अनेक लोग कहते हैं मुझे कभी कभी सपना आता है उन्हें सिर्फ स्मरण नहीं रहता सपना आप रात भर देखते हैं पूरी रात में करीब करीब बारह स्वप्न औसत आदमी देखता है इससे ज्यादा देखने वाले लोग हैं इससे कम देखने वाले आदमी खोजने मुश्किल है बारह स्वप्न रात्रि के करीब करीब तीन चौथाई हिस्से को घेरते हैं एक चौथाई हिस्से में सुसुप्ति होती बाकी तीन चौथाई में स्वप्न होते लेकिन आपको याद नहीं रहते क्योंकि एक स्वप्न गया उसके बाद सुसुप्ति का अगर एक क्षण भी आ गया तो संबंध टूट जाता है स्मृति का आपको जो सपने याद रहते हैं वो करीब करीब भोर के सपने होते हैं सुबह के सपने होते हैं जिनके बाद सुसुप्ति नहीं आती जागृति आ जाती है जिस सपने के बाद सुसुप्ति नहीं आती और सीधे आप जाग जाते हैं वही आपको याद रहता है अगर किसी भी सपने और जागने के बीच में सुसुप्ति का थोड़ा सा भी काल आ जाए तो स्मृति का संबंध विच्छेद हो जाता है उसकी स्मृति तो बनती है लेकिन आपको साधारणता याद नहीं रहती स्मृति बनती नहीं ऐसा नहीं स्मृति तो निर्मित होती है लेकिन अचेतन हो जाती सुसुप्ति में भी स्मृति निर्मित होती है लेकिन अचेतन हो जाती उसका आपको बोध नहीं होता चेष्टा की जाए तो अचेतन से उसको जगाया जा सकता है लेकिन साधारणता आपको ख्याल में नहीं रहता इसलिए सिर्फ सुबह के सपने याद रहते हैं इसलिए अधिक लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे सुबह ही सपना आता है सपने रात भर आते हैं अब तो इसके लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध हो गए हैं अब तो हमारे पास यंत्र भी उपलब्ध हो गए हैं जो रात भर बताते रहते हैं कि कब आप सपना देख रहे हैं और कब आप नहीं देख रहे बड़ी मजे की बात है कि सपना देखने में भी आपकी आंख गतिमान हो जाती उसी तरह जैसे आप वस्तुता अगर जगत में घटना देख रहे होते उसी आंख से पता चल जाता है कि आप सपना देख रहे हैं जैसे एक आदमी फिल्म देख रहा है तो जितनी तेजी से उसकी आंख चलती है फिल्म के साथ चलनी पड़ती है जब आदमी सपना देखता है तो उससे भी ज्यादा तेजी से उसकी आंख चलने लगती है पलक के भीतर रैपिड आई मूवमेंट्स उसको वो कहते हैं कि तब पता चल जाता है कि वो सपना देख रहा है तो आंख पर यंत्र लगा दिया जाता है वो यंत्र बताता रहता है कि कब आंख की गति कितनी है और जब आंख की गति तेज है तब आपको जगाया जाए तो आप सपना पूरा बता देते हैं उसी वक्त कि क्या सपना देख रहे थे और जब आंख की गति नहीं होती तेज तब आपको जगाया जाए तो आप कहते मैं कोई सपना नहीं देख रहा था तो अब इस पर निर्णय हो गया कि आदमी सपना देखता है तो आंख उसकी भीतर चलती है जोर से जैसे वो फिल्म देख रहा हो तो रात भर प्रयोग करके हजारों लोगों पर जाना गया है कोई दस हजार लोगों को अमेरिका ने इस बीच बहुत खर्च किया रात भर सोने का प्रयोगशाला में पैसा दिया है लोगों को क्योंकि वो अपनी नींद बेचते हैं उनको बार बार जगाना पड़ता है और रात भर वो बंधे हुए पड़े रहते हैं यंत्रों के बीच दस हजार लोगों पर प्रयोग करके ये निर्णय लिया है कि कोई आदमी जो कहता है कि मैं सपने नहीं देखता वो सच कहता है अपनी तरफ से लेकिन झूठ कहता है जो आदमी कहता है मुझे कभी कभी सपने आते हैं वो भी गलत कहता है जो लोग कहते हैं हमें सुबह ही सपने आते हैं वे भी गलत कहते हैं लेकिन फिर भी उनकी बातों में थोड़ी सच्चाई है सुबह के सपने याद रहते हैं क्योंकि जागृति हो जाती ये मैंने इसलिए कहा था कि तिब्बत का बारदो का प्रयोग आपके ख्याल में आ जाए तिब्बत ने मनुष्य के स्वप्न पर महत्वपूर्ण काम किया है शायद पृथ्वी पर किसी देश ने नहीं किया और उन्होंने ये राज पा लिया कि अगर किसी आदमी को हम सपने की अवस्था में मरने का आयोजन करवा दें तो वो अपनी इस जन्म की सारी स्मृतियों को लेकर अगले जन्म में प्रवेश कर जाए और इस जन्म की स्मृतियां जिसको अगले जन्म में रहे उसका अगला जन्म रूपांतरित हो जाएगा बदल जाएगा क्योंकि फिर वही मूर्ताएं करने में उसे स्वयं ही बोध होने लगेगा जो वो कर चुका पहले फिर वही वासनाएं फिर वही इच्छाएं फिर वही दौड़ और फल तो कुछ भी नहीं था पूरे जीवन का पिछला जीवन दौड़ दौड़ के रिक्त हो गया और अंत में मौत हाथ लगी उन सारी वासनाओं के बाद कुछ हाथ लगा नहीं सिर्फ मौत हाथ लगी ये अगर स्मृति में रह जाए तो अगला जन्म दूसरे प्रकार का होगा उसका गुणधर्म बदल जाए क्योंकि फिर वो आदमी ठीक उन्हीं वासनाओं में नहीं दौड़ सकेगा मृत्यु सदा सामने खड़ी मालूम पड़ेगी और फिर उन्हीं वासनाओं में दौड़ने का अर्थ होगा कि वो फिर अपने हाथ रिक्त करने जा रहा है फिर मरने जा रहा है नहीं इस बार अब वो कुछ और कर सकेगा जिंदगी को बदलने का कोई कोई चेष्टा सघन हो जाएगी ये चेष्टा सघन हो सके इसलिए बारदों का प्रयोग है बारदों का प्रयोग वैज्ञानिक है व्यक्ति मर रहा होता है तब उसे जगाए रखने के सब उपाय किए जाते हैं सुगंध से प्रकाश से संगीत से कीर्तन से भजन से उसे जगाए रखने के प्रयोग किए जाते उसे सोने नहीं दिया जाता और जैसे उसको झपकी लगती है वैसे ही उसके कान के पास वार्दों के सूत्र कहे जाते हैं वार्दों के सूत्र ऐसे हैं जो स्वप्न को पैदा करने में सहयोगी है जैसे उसे कहा जाएगा कि वो समझ ले कि शरीर से अलग हो रहा है अभी वो झपकी खा गया है उसे कहा जा रहा है कि वो शरीर से अलग हो गया है मृत्यु घटित हो गई है और वो अपनी यात्रा पर निकल रहा है यात्रा पर मार्ग कैसा है यात्रा पर दोनों तरफ कैसे वृक्ष लगे हैं यात्रा पर कैसे पक्षी उड़ रहे हैं ये सारे प्रतीक उसके कान में कहे जाएंगे पहले तो समझा जाता था कि ये कान में कहने से क्या होगा लेकिन अब ये नहीं समझा जा सकता क्योंकि रूस में बड़े पैमाने पर हिप्नोपीडिया के प्रयोग चल रहे हैं और रूस के वैज्ञानिकों की धारणा है कि आने वाली सदी में बच्चे स्कूल पढ़ने दिन में नहीं जाएंगे रात बच्चों की नींद में ही स्कूल उन्हें शिक्षा देगा क्योंकि रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चा जब सोया होता है तब उसके कान में एक विशेष ध्वनि पर और एक विशेष वेवलेंथ पर अगर कुछ बातें कही जाएं तो उसके अचेतन में प्रवेश कर जाती इस पर बहुत प्रयोग सफल हो गए हैं और एक बच्चा जो गणित में कमजोर है और लाख उपाय करके गणित में ठीक नहीं होता शिक्षक परेशान हो जाते हैं वो बच्चा भी रात नींद में गणित की शिक्षा देने से कुशल हो जाता है और उसे कभी पता भी नहीं चलता कि उसको शिक्षा दी गई भाषा के संबंध में तो हैरानी के अनुभव हुए हैं कि जो भाषा तीन साल में सीखी जा सके वो रात में तीन महीने में सिखाई जा सकती और उसमें कोई समय का व्यय नहीं होगा क्योंकि आपकी नींद में कोई बाधा नहीं पड़ेगी आप सो ही रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा सिर्फ सुबह आपको रोज परीक्षा देनी होगी कि रात भर क्या हुआ तो अब तो रूस में उन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई हैं जो हजारों बच्चों को रात शिक्षा दे रही हर बच्चे के पास छोटा सा यंत्र उसके तकिए में लगा रहता है वो सो जाता है ठीक 12 बजे रात शिक्षा शुरू होती दो घंटे शिक्षा चलती है फिर बच्चे को एक बार जगाया जाता है वो सब यंत्र ही कर देता है घंटी बजा के बच्चे को जगा देता है जगाया इसलिए जाता है ताकि जो सिखाया गया उसके बाद अगर सुसुप्ति आ जाए तो वो भूल जाएगा इस सूत्र को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं नहीं तो ये सूत्र समझ में नहीं आएगा उसे जगाया जाएगा दो घंटा शिक्षण चलेगा फिर घंटी बजेगी बच्चा जगाया जाएगा जाग के उसे हाथ मुंह धोके पुनः सो जाना है कुछ और करना नहीं बस वो जो शिक्षा दी गई है उसके बाद सुसुप्ति की परत ना आए नहीं तो सुबह भूल जाएगा सब फिर चार बजे उसकी शिक्षा शुरू होगी फिर चार से छह बजे तक वही पाठ दोहराया जाएगा छह बजे वो फिर उठा है इस चार घंटे में इतना सिखाया जा पाता है जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है तो रूसी वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं कि अब हम बच्चों को स्कूल की कारागृह से जल्दी ही छुटकारा दिला देंगे वो खतरनाक है काराग्रह छोटे बच्चे न खेल पाते उसकी वजह से न मौज कर पाते न नाच पाते न कून पाते बचपन से उनको काराग्रह में बिठा दिया जाता है पांच छह घंटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती स्कूलों में बिठाए रखना उनकी जिंदगी के लिए हमेशा के लिए पंगु कर देना है लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं था उनकी जिंदगी का सबसे कीमती और स्वर्ण अवसर व्यर्थ ही स्कूल की बेंचों पर बैठ के नष्ट होता रहता है अधिक लोगों की जिंदगी में दुख का कारण वही है क्योंकि जब सर्वाधिक आनंदित होने के उपाय थे जीवन ताजा था प्रफुल्लता थी और जीवन से एक संबंध निर्मित हो सकता था तब भूगोल इतिहास और गणित उनमें सारा समय गया और उन सब से जो मिलने वाला है वो जीवन नहीं है आजीविका है इसका मतलब यह हुआ कि जीवन को गंवाया आजीविका के लिए लेकिन रूसी वैज्ञानिक अब कहता है कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा हम शीघ्र ही वो रास्ते खोज लिए हैं जिनसे बच्चे दिन भर खेल सकते हैं मौज कर सकते हैं भ्रमण पर जा सकते हैं जो उन्हें करना हो कर सकते हैं और रात्रि रात्रि उनको शिक्षा दी जा सकती इसको वो हिप्नोपीडिया कहते निद्रा शिक्षण लेकिन इसमें भी वो सूत्र है कि उनको जगाया जाए और अगर हम शिक्षा दे सकते हैं भीतर तो बार्डो ठीक कहता है कि कान में कहकर स्वप्न भी पैदा किए जा सकते हैं अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसे दूसरा जन्म पिछले जन्म की याददाश्त के साथ मिलेगा ऐसा बच्चा मां के पेट में भी स्वप्न की अवस्था में रहेगा ऐसा बच्चा नया जन्म भी स्वप्न की अवस्था में लेगा इस तरह के बच्चे में और सुसुप्ति में लिए हुए बच्चे में बुनियादी फर्क होगा जन्म में फर्क होगा जो बच्चा मां के पेट में स्वप्न में रहेगा उस बच्चे के कारण मां के मन में अनेक स्वप्न पैदा होंगे बुद्ध और महावीर विशेषकर जैनों के 24 तीर्थंकरों के संबंध में कथा है कि जब भी वे मां के पेट में आए तो मां ने विशेष सपने देखे चौबीस तीर्थंकरों की मां ने एक से ही सपने देखे सैकड़ों हजारों साल के फासले पर तो जैनों ने उसका पूरा विज्ञान ही निर्मित किया तब उन्होंने निश्चित कर लिया कि इस तरह के सपने जब किसी मां को हो तो उसके पेट से तीर्थंकर पैदा होने वाला है वे सपने निश्चित हो गए जैसे शुभ्र हाथी दिखाई पड़े जो साधारणता नहीं दिखाई पड़ता चेष्टा भी करें तो नहीं दिखाई पड़ता तो तीर्थंकर जन्म लेने वाला है तो ये सिंबॉलिक हो गए ये तीर्थंकर के प्रतीक हो गए कि जब किसी मां के पेट में तीर्थंकर का व्यक्तित्व आएगा तो वो इन सपनों को देखेगी तो जैनों ने तो उनकी सोच करके सपने तय कर दिए कि इतने सपने हैं अगर ये आए तो ही पैदा होने वाला बच्चा तीर्थंकर होगा बुद्धों के सपने भी तय हैं कि जब बुद्ध की चेतना का व्यक्ति कहीं पैदा होगा तो उसके सपने क्या होंगे ये सपने तभी पैदा हो सकते हैं जब भीतर आया हुआ व्यक्ति स्वप्न की अवस्था में मरा हो स्वप्न की अवस्था में जन्मा हो और स्वप्न की अवस्था में मां के पेट में हो तो मां के सपने उस बच्चे से तीव्रता से प्रभावित होंगे सच तो यह है कि वो मां बिल्कुल आच्छादित हो जाएगी उस बच्चे से क्योंकि बच्चा मां से बड़ा व्यक्तित्व लेकर आया हो ऐसा जो बच्चा पैदा होगा जो स्वप्न में पैदा हुआ हो ऐसा बच्चा चाहे तो एक जन्म में मुक्ति को उपलब्ध हो सकता है चाहे तो न चाहे तो और भी जन्म ले सकता है लेकिन मुक्ति अब उसकी किसी भी क्षण घटित हो सकती जब चाहे तब घटित हो सकती जैसा सुसुप्ति में पैदा होता है कोई जन्मता और मरता है स्वप्न में जन्मता और मरता है वैसे ही जागृत में भी जन्म और मरण के उपाय वो आखिरी बात है जब कोई जागृत में मरता है अगर जागृत में कोई मरता है तो आने वाला जन्म अगर उसे लेना हो तो ही लेगा अन्यथा जन्म नहीं होगा क्योंकि अब चुनाव उसके हाथ में है जो जागृत में मरता है चुनाव उसके हाथ में है वो चाहे तो ही प्रयास करे तो ही जन्म होगा अंथा उसका जन्म नहीं होगा ऐसा व्यक्ति जागा ही गर्भ में प्रवेश करेगा जागा ही गर्भ में रहेगा जागा ही जन्मेगा सुसुप्ति में जो बच्चा पैदा होता है वो भी मां को प्रभावित करता है इसलिए मां अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चा मां के पेट में हो तो मां का गुणधर्म बदल जाता है उसका व्यवहार बदल जाता है बोलचाल बदल जाता है अनेक बातें बदलाहट मालूम पड़ने लगती कई बार साधारण स्त्रियां अचानक गर्व के साथ सुंदर हो जाती हैं विचारशील हो जाती हैं कई बार सुंदर स्त्रियां गर्व के साथ कुरूप हो जाती हैं विचारशील स्त्रियां विचारहीन हो जाती शांत स्त्रियां अशांत हो जाती हैं अशांत स्त्रियां शांत हो जाती हैं नौ महीने एक दूसरा जीवन भी भीतर होता है वो प्रभावित करता है सुसुप्त बच्चा भी प्रभावित करता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं स्वप्न वाला बच्चा बहुत प्रभावित करता है मां के सारे स्वप्न सारे विचार उससे आच्छादित हो जाते लेकिन अगर जागृत व्यक्ति पैदा हो तो मां पूरी तरह रूपांतरित हो जाती यही जैनों के तीर्थंकर की और हिंदुओं के अवतार की धारणा का फर्क है हिंदू मानते हैं कि अवतार वो व्यक्ति है जो जागा हुआ ही पैदा होता है जागा हुआ ही पैदा होता है इसलिए उसे वो ईश्वर का अवतरण कहते हैं क्योंकि वो व्यक्ति चाहता तो अभी ईश्वर से मिल सकता था इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना पिछली मृत्यु के बाद वो चाहता तो ईश्वर से मिल सकता था कोई बाधा न थी कोई जमीन की तरफ खींचने का कारण न था नए जन्म का कोई भी वजह न रही थी वो ईश्वर से मिलने के ही करीब खड़ा था मिल ही गया था फिर भी लौटा है इसको हिंदू अवतरण कहते हैं इसको जन्म नहीं कहते क्योंकि वो कहते ये आदमी अब ऊपर से लौटा है अवतार है ये जागृत में घटेगा जीसस जैसे व्यक्ति का जन्म ईसाइत में भी जागृत में है पूरा जागृत में यहां एक और बात ख्याल में लेनी चाहिए कि जब भी कोई जागृत व्यक्ति पैदा होता है तो स्त्री पुरुष का संभोग घटित नहीं होता इसलिए ईसाइत बड़ी मुश्किल में पड़ गई है क्योंकि वर्जिन से कुंवारी लड़की से जन्म हुआ है जीसस का और ईसाइत के पास इसका पूरा विज्ञान नहीं है इसका पूरा ख्याल नहीं कि कैसे घटित हो सकता है कुंवारी लड़की से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है सोया हुआ बच्चा कुंवारी लड़की से पैदा नहीं हो सकता सोया हुआ बच्चा स्वभावता बिल्कुल ही पाश्विक ढंग से संभोग से पैदा होगा स्वप्न में पैदा होने वाला बच्चा साधारण संभोग से पैदा नहीं होता यौगिक संभोग से पैदा होता है तांत्रिक संभोग से पैदा होता है एक विशिष्ट संभोग से पैदा होता है जिसमें ध्यान संयुक्त होता है मूर्छा नहीं होती जागृत पुरुष संभोग से पैदा ही नहीं होता संभोग से उसका कोई संबंध ही नहीं होता वो कुआरी मां से ही पैदा होता इसे बहुत बार तो छिपा लिया गया है छिपा लिया इसलिए गया है कि यह भरोसे का नहीं होगा विश्वास नहीं किया जा सकेगा और अकारण परेशानी पैदा होगी जीसस के मामले में यह बात खुल गई और खुल जाने का कारण यह था कि जीसस के पिता ने कहा कि उसने तो कोई संबंध ही नहीं किया है उसका तो कोई संबंध ही नहीं है पत्नी से पहली दफा जीसस के मामले में यह छिपा हुआ राज जाहिर हो गया नहीं तो सच्चाई यह है कि जब भी कोई अवतार पैदा हुआ है उसका संभोग से कोई संबंध नहीं भला संभोग होता रहा हो पति और पत्नी में लेकिन उसके जन्म का संभोग से कोई संबंध नहीं है ये जो जागृत में पैदा हुआ व्यक्ति है इसे मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता ये मुक्ति ही पैदा होता है ये तीन अवस्थाएं स्वप्न की सुसुप्ति की जागृत की हमारे जन्म और मृत्यु में भी गुथी हैं एक दूसरी तरफ से भी इन तीनों अवस्थाओं का ख्याल ले लें हिंदू चिंतना स्वप्न सुसुप्ति और जागृति में तीन शरीरों का भी निर्माण मानती है वो बहुत कीमती है स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर हिंदू चिंतन मानता है स्थूल शरीर जागृत से संबंधित है सूक्ष्म शरीर स्वप्न से संबंधित है कारण शरीर सुसुप्ति से संबंधित है जब आप जागे हुए होते हैं तो आप स्थूल शरीर में होते हैं इसीलिए जब आपको एनेस्थेसिया दे दिया जाता है तो फिर इस शरीर को काटा जाता है और आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप दूसरे शरीर में होते किसी न किसी दिन मेडिकल साइंस इन राज्यों को हिंदू चिंतन से भी समझेगी तो उसे बड़ा उद्घाटन होगा किसी दिन चिकित्सा शास्त्र अनुभव करेगा कि इन शास्त्रों में सिर्फ दर्शन नहीं है बहुत कुछ और भी है लेकिन वो इतना सूत्र में है कि जब तक उसे कोई खोले नहीं तब तक वो कभी ख्याल में आता नहीं उसके ख्याल में आने का कोई उपाय नहीं है ऑपरेशन इसलिए किया जा सकता है स्थूल शरीर का कि आप आपकी चेतना बेहोशी में स्थूल शरीर से हट के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती कारण शरीर में अगर चेतना प्रवेश कर जाए अर्थात सुसुप्ति में तो इस शरीर पर होने वाली किसी घटना का कोई पता नहीं चलेगा अगर स्वप्न शरीर में प्रवेश कर जाए तो धुंधला धुंधला पता चलेगा क्योंकि स्वप्न शरीर इसके बिल्कुल करीब है जैसे कि कभी कोई आदमी भंग खा लेता तो वो स्वप्न शरीर में प्रवेश कर जाता जितने एसिड्स हैं एलएसडी मारिहुआना मेस्कलिन भांग गांजा अफीम चरस शराब ये सब के सब स्थूल शरीर से आदमी को तोड़कर स्वप्न शरीर में प्रवेश करा देते इनकी कुल कला इतनी तो भांग खाया हुआ आदमी आपने देखा है रास्ते पर डोलता हुआ चलता है पैर ठीक रखना चाहता है नहीं पड़ता है हालांकि उसे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक रखता हूं और फिर भी उसे लगता है कि कुछ गलत पड़ता है असल में इस शरीर में वो है नहीं अब वो शराबी जो रास्ते पर डोलता हुआ चल रहा है वो दूसरे शरीर में चल रहा है और ये शरीर सिर्फ उसके साथ घसीट रहा है वो सूक्ष्म शरीर में चल रहा है लेकिन फिर भी उसे इसका बोध है अगर आप उसको डंडा मारें तो उसको चोट लगेगी हालांकि चोट उतनी नहीं लगेगी जितना जब वो स्थूल में होता तब लगती इसलिए शराबी गिर पड़ता है रास्ते पर आपने देखा आप गिर के देखें रोज गिरता है रात नाली में रोज घर घसीट के पहुंचा दिया जाता है दूसरे दिन सुबह फिर ताजा अपने दफ्तर की तरफ जा रहा है इसको चोट वगैरह नहीं लगती आपने देखा बच्चे बच्चे गिर पड़ते हैं उनको इतनी चोट नहीं लगती आप इतने गिरे तो हड्डी पसली तत्काल टूट जाए बच्चे स्वप्न शरीर में है अभी उनका जागृत शरीर में आने का उपाय धीरे धीरे होगा आपने देखें जब बच्चा पैदा होता है मां के पेट में 24 घंटे सोता है पैदा होकर 23 घंटे सोता है फिर 22 घंटे सोता है फिर 20 घंटे सोता है फिर 18 घंटे सोता है ये उसका सुसुप्ति शरीर से वो बाहर आ रहा है ये सुसुप्ति शरीर से वो बाहर आ रहा है क्रमशः धीरे धीरे धीरे नींद कम होती जाएगी लेकिन जब वो नींद के बाहर होगा तब वो अक्सर सपने में होगा आपने कभी ख्याल किया है कि छोटे बच्चों को सपने में और वास्तविकता में फर्क पता नहीं चलता इसलिए रात अगर सपने में उसको किसी ने मार दिया तो वो सुबह भी रोता हुआ उठता है और वो कहता किसी ने मुझे मारा या सपने में किसी ने उसकी गुड़िया छीन ली तो वो सुबह रोता हुआ सिसकता हुआ उठता है अभी उसे स्वप्न और जागृत के बीच फासला नहीं है अभी वो स्वप्न शरीर में ही जीता है इसलिए बच्चों की आंखें इतनी सपनीली मालूम पड़ती हैं और इतनी इनोसेंट निर्दोष उसका कुल कारण इतना है कि वो सपने में आंखें खोले हुए हैं अभी उनकी दुनिया बड़ी रंग बिरंगी सपनों की दुनिया है अभी सब तरफ तितलियां उड़ रही हैं सब तरफ फूल खिल रहे हैं अभी जिंदगी के यथार्थ का कोई आभास उन्हें नहीं हुआ उसका कारण उसका कारण कि अभी वो जिंदगी के जिस यथार्थ से संबंध होने का मार्ग जो शरीर है स्थूल उसमें उनका प्रवेश नहीं हुआ और प्रकृति इसको जान के ऐसा करती है क्योंकि बच्चा अगर 24 घंटे सोता है मां के पेट में तो ही उसका ये शरीर बढ़ सकता है अगर वो शरीर में आ जाए तो शरीर का बढ़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शरीर की बढ़ती के लिए उसकी मौजूदगी बिल्कुल जरूरी नहीं है उसकी मौजूदगी बाधा डालेगी अभी शरीर में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है अभी चीजें बढ़ रही हैं घट रही हैं फैल रही हैं अभी ये सब इतना बड़ा काम चल रहा है कि इस बीच उसका जागना ठीक नहीं उसे सोया रहना ठीक इसलिए जो बच्चा सात महीने का पैदा हो जाता है उसका स्थूल शरीर सदा के लिए कमजोर रह जाएगा क्योंकि वो सुसुप्ति से स्वप्न में आ गया और अब शरीर के बनने में बाधा पड़ेगी और जो काम मां के पेट में महीने में हो सकता था वो बाहर छह महीने में नहीं हो पाया फिर बच्चे का स्वप्न शरीर चलेगा वर्षों तक क्योंकि अभी भी उसका शरीर बड़ा हो रहा है ठीक स्वप्न शरीर से पूरा छुटकारा बच्चा जब सेक्सुअली मैच्योर होता है चौदह साल का होता है तब होता है और चौदह साल की उम्र में जैसे ही काम प्रौढ़ता आती है स्थूल शरीर में पूरा प्रवेश होता है ये जान के आप हैरान होंगे कि काम की ग्रंथि बच्चे जन्म से ही पूरी लेकर पैदा होते लेकिन स्थूल शरीर में प्रवेश न होने से काम की ग्रंथि ऐसी ही पड़ी रहती चौदह वर्ष में स्थूल शरीर में प्रवेश होगा और काम की ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी इस स्थूल शरीर में प्रवेश को रोका जा सकता है कम ज्यादा किया जा सकता है शायद आपको पता ना हो कि हर 10-20 वर्षों में इधर पिछले 50 वर्षों में सेक्स मेच्योरिटी का समय नीचे गिरता जा रहा है बच्चे 15 वर्ष में लड़के अगर प्रौढ़ होते थे काम वासना में तो अब वो 13 वर्ष में हो जाते लड़कियां अगर 14 वर्ष में होती थी तो अब वो बारह वर्ष में हो जाती और अमेरिका में वो संख्या और नीचे गिर गई अगर हिंदुस्तान में बारह वर्ष में होती तो अमेरिका में ग्यारह वर्ष में होने लगी स्विट्जरलैंड और स्वीडन में और भी एक दस वर्ष में होने लगी और वैज्ञानिक कहते हैं कि जितना स्वास्थ्य बढ़ेगा भोजन अच्छा होगा उतने जल्दी सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाएगी इतना ही नहीं वैज्ञानिकों के इतना ही ख्याल में है लेकिन जगत में जितनी काम वासना की हवा होगी और जितना काम वासना का वातावरण होगा और जितनी कामुकता होगी उतने जल्दी भी बच्चे अपने स्वप्न शरीर को छोड़कर स्थूल शरीर में आ जाएंगे इससे उल्टा प्रयोग भारत ने किया था और हम 25 वर्ष तक बच्चों को प्रौढ़ता से रोकने के अद्भुत परिणामों को उपलब्ध हुए थे आप ये मत समझना कि हिंदुस्तान के गुरुकुलों में बच्चे चौदह साल में प्रौढ़ हो जाते थे और फिर पच्चीस साल तक उनको ब्रह्मचर्य रखा जा सकता था वो असंभव अगर चौदह साल में बच्चा प्रौढ़ हो गया तो फिर पच्चीस साल तक उसको ब्रह्मचारी रखना असंभव है और अगर कोशिश की जाएगी तो पागल होगा कोशिश की जाएगी तो विकृत हो जाएगा कोशिश की जाएगी तो विकृत काम रूप उसमें प्रकट होने शुरू हो जाएंगे नहीं जो प्रयोग था वो बहुत दूसरा था वो प्रयोग जो था कि 25 वर्ष तक उसको विशेष तरह का भोजन दिया जा रहा था और विशेष तरह का वातावरण दिया जा रहा था जहां कामुकता की कोई गंध और कोई खबर न थी और भोजन उसे ऐसा दिया जा रहा था जो उसके स्वप्न शरीर से उसे 25 वर्ष तक बाहर ना आने थे और यह मौका था इस क्षण में उसे जो भी सिखाया जाता वो उसके स्वप्न शरीर में प्रवेश कर जाता था मजे की बात है कि चौदह साल के बाद कोई भी चीज सिखाई जाए वो गहरे प्रवेश नहीं करती ऊपर ऊपर रह जाती चौदह साल के पहले जो भी सिखाया जाए वो गहरा प्रवेश करता है सात साल के पहले जो सिखाया जाए वो और भी गहरा प्रवेश करता है और अगर हमने किसी दिन कोई उपाय खोज लिया कि हम मां के पेट में बच्चे को कुछ सिखा सकें तो उसकी गहराई का कोई हिसाब ही लगाना असंभव है वो भी हम किसी न किसी दिन कर पाएंगे क्योंकि उस दिशा में काम चलता है उस दिशा में भारत ने तो काम किया है ये 25 वर्ष तक उसकी अगर मेच्योरिटी रोकी जा सके तो बच्चा स्वप्न की अवस्था में होगा और स्वप्न की अवस्था बहुत ही ग्राहक अवस्था है आपने कभी ख्याल किया कि स्वप्न में संदेह कभी नहीं उठता स्वप्न में आप अचानक देखते हैं कि घोड़ा चला आ रहा है अचानक पास आके देखते हैं कि घोड़ा नहीं है आपका मित्र है और थोड़ा पास आता आप देखते हैं कि मित्र नहीं है ये तो वृक्ष खड़ा हुआ है लेकिन आपके मन में यह भी नहीं उठता कि क्या हो रहा है ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी घोड़ा था अभी मित्र हो गया वृक्ष हो गया इतना संदेह भी नहीं उठता स्वप्न शरीर आस्थावान है स्वप्न शरीर पूर्ण श्रद्धा से भरा है संदेह उठता ही नहीं अगर स्वप्न शरीर में कुछ भी डाल दिया जाए तो वो निसंदिग्ध गहरा उतर जाता है स्थूल शरीर आस्थावान नहीं है सब संदेह उठाता है स्थूल शरीर का एक दफा बोध आ जाए फिर शिक्षण मुश्किल हो जाता है कभी आपने ख्याल किया कि अगर आपके बच्चे जैसे ही सेक्सुअली मैच्योर होते हैं वैसे ही उनके जीवन में अस्त व्यस्तता और परेशानी और उपद्रव और विरोध और विद्रोह और हर चीज में जिद और हर चीज से झगड़ा और हर चीज से छूटने की कोशिश और कुछ भी न मानने की वृत्ति खड़ी होनी शुरू होती किसी को न मानने की किसी का आदर न करने की वो स्थूल शरीर का स्वाभाविक परिणाम है ऐसे बच्चा भी तीन शरीरों को पुनः उपलब्ध होता है मरने के पहले फिर बूढ़े का स्थूल शरीर सबसे पहले नष्ट होने लगता है जवानी समाप्त होती है उसी दिन जिस दिन हमें पता चलता हमारा स्थूल शरीर क्षीण होने लगा लेकिन स्थूल शरीर छीन हो जाए लेकिन वासना छीण नहीं होती क्योंकि वासना सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है स्वप्न शरीर का हिस्सा है इसलिए बूढ़े की तकलीफ एक ही है वो तकलीफ यह है कि उसके पास वासना वही होती है जो जवान के पास होती और शरीर उसके पास जवान का नहीं होता उसकी पीड़ा भारी भारी हो जाती इसलिए बूढ़े अक्सर जो जवानों के प्रति इतना इतनी निंदा से भरे रहते हैं और इतनी आलोचना से भरे रहते हैं और इतने सिद्धांत और तर्क और शिक्षाएं देते रहते हैं उसका गहरा कारण उनकी बुद्धिमत्ता नहीं है उसका गहरा कारण सौ में निन्यानवे मौके पर उनकी ईर्षा है वासना उनके मन में भी वही है लेकिन शरीर छीन हो गया है स्थूल शरीर साथ नहीं देता फिर इसके बाद उनका स्वप्न शरीर छीन होना शुरू होता है जब बूढ़े का स्वप्न शरीर क्षीण होता तब उसकी स्मृति प्रभावित हो जाती तब उसे चीजें याद नहीं आती असंगत हो जाता है तर्क हो जाता है अभी कुछ कहता है घड़ी भर बाद कुछ कहने लगता है संगति नहीं रह जाती स्वप्न शरीर क्षीण होने लगा और जब स्वप्न शरीर क्षीण हो जाता है तब फिर सुसुप्ति में मृत्यु घटित होती मृत्यु में सुसुप्त शरीर भी क्षीण होता है लेकिन समाप्त नहीं होता और इन तीनों शरीरों की वासना लेके सुसुप्त शरीर कारण शरीर नई यात्रा पर निकल जाता है वो बीज की तरह फिर नया जन्म फिर नई यात्रा फिर वही खेल फिर वही चक्कर अब इस सूत्र को हम समझें पिछले जन्मों के कार्यों से प्रेरित होकर वह मनुष्य सुसुप्त अवस्था से पुनः स्वप्न व जागृत अवस्था में आ जाता है पिछले जन्मों के कर्मों से प्रेरित हुआ वह मनुष्य सुसुप्त अवस्था से पुनः स्वप्न और जागृत अवस्था में आ जाता है जब भी कोई नया व्यक्ति पैदा होता है तो पिछले जन्मों के सारे कर्मों को प्रभावों को संस्कारों को लेकर सुसुप्त तो पैदा होता है फिर स्वप्न में आता है फिर जागृत में आ जाता है नया जीवन शुरू हो जाता है इस तरह से ज्ञात हुआ कि जीव तीन प्रकार के शरीरों में स्थूल सूक्ष्म और कारण में रमन करता है उसी से सारे मायक प्रपंच की सृष्टि होती ये जीवन का सारा का सारा प्रपंच इन तीन शरीरों पर निर्भर है इन तीन शरीरों को इस सूत्र में पुर कहा है तीन पुर और इसीलिए भारतीय जो शब्द है आत्मा के लिए वो पुरुष है पुरुष का मतलब है पुरों के भीतर रहने वाला और ये तीन उसके नगर हैं ये तीन उसके पुर हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीन में वो पुरुष रमन करता रहता है ये तीन उसकी नगरियां हैं जिनमें वो एक से दूसरे में यात्रा करता है जब तीन प्रकार के शरीरों का लय हो जाता है तभी यह जीव मायक प्रपंच से मुक्त होकर अखंड आनंद का अनुभव करता है जब ये तीनों शरीर लीन हो जाते हैं जब हमारी मृत्यु घटित होती है तो हमारा स्थूल शरीर बीज रूप में सूक्ष्म में समा जाता है और सूक्ष्म बीज रूप होकर सुसुप्त में समा जाता है कारण में समा जाता है स्थूल सूक्ष्म में सूक्ष्म कारण में समा जाता है कारण शब्द बहुत अद्भुत है अगर हम पूछें वृक्ष का कारण क्या तो कहना पड़ेगा बीज कभी आपने ख्याल किया कि एक वृक्ष में बीज लगता है इस बीज को अगर आप तोड़ें तो आपको कुछ भी तो नहीं मिलेगा लेकिन इसे आप जमीन में गाड़ दें इसमें फिर अंकुर आएगा और जिस वृक्ष में यह लगा था वही वृक्ष पुनः प्रकट हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि वो जिस वृक्ष में यह लगा था वो वृक्ष अपने स्थूल स्वप्न शरीरों को लीन करके इस बीज में समा गया था कारण शरीर में लीन हो गया था फिर ठीक अवसर आने पर वो प्रकट हो जाता है मैं अगर एक जीवन जिया तो जो मैंने किया जो मैं था जो मैंने सोचा जो मेरे जीवन में हुआ जो मेरे जीवन का सार है वो सब पहले जागृत में घटता है फिर उसका सार निचोड़ के स्वप्न में संग्रहित हो जाता है फिर स्वप्न शरीर का भी सारा संग्रहित होकर कारण शरीर में बीज बन जाता है वो बीज लेकर मैं नई जीवन की यात्रा पर निकल जाता हूं वही बीज नए जन्म की शुरुआत बनेगा फिर स्वप्न उठेंगे फिर जागृत का वृक्ष फैलेगा फिर जीवन की पूरा का पूरा वृक्ष खड़ा हो जाए जब तक ये तीनों शरीर नष्ट न हो जाएं, तो भारतीय मनीषा का अनुभव है तब तक व्यक्ति उस चौथे को उपलब्ध नहीं होता जो वो है जब तक ये तीनों से मुक्त न हो जाए छूट ना जाए तब तक आनंद का कोई अनुभव नहीं होता क्योंकि ये तीनों काराग्रह हैं और बार बार पुनरुक्त होते चले जाते हैं एक काराग्रह से दूसरे में हस्तांतरण होता है दूसरे से तीसरे में और आदमी स्थानांतरित होता चला जाता है एक काराग्रह दूसरे काराग्रह के जेलर के हाथ में सौंप देता है दूसरा तीसरे के हाथ में सौंप देता है और अनंत है ये परिभ्रमण इन तीनों का लीन हो जाए ये तीनों शरीर कैसे ये तीनों शरीर लीन होंगे ये तीनों लीन हो जाएं तो फिर जो घटना घटती उसको मृत्यु नहीं कहते उसको मुक्ति कहते साधारण आदमी जब मरता है तो उसको हम मृत्यु कहते हैं मृत्यु का अर्थ हुआ कि तीनों शरीर कारण में लीन हो गए समाप्त नहीं हुए और कारण नई यात्रा पर निकल गया मृत्यु का मतलब आप समझ लें बहुत हैरानी होगी जानकर कि मृत्यु का मतलब बहुत अजीब है मृत्यु का मतलब है उस आदमी की मृत्यु को मृत्यु कहते हैं जिसका दूसरा जन्म होने वाला है कभी ख्याल में ना आया होगा कि इसको मृत्यु कहते हैं जन्म के कारण अगर आगे जन्म होने वाला है तो यह मृत्यु है और अगर आगे जन्म होने वाला नहीं है तो ये मोक्ष है मुक्ति है इसलिए बुद्ध को हम नहीं कहते कि वो मर गए कहते हैं समाधिस्थ हुए महावीर को नहीं कहते कि वो मर गए कहते हैं समाधिस्थ हुए समाधिस्थ का अर्थ है कि तीनों का तीनों शरीर लीन हो गए समाप्त हो गए शून्य हो गए और ये व्यक्ति चौथी अवस्था में प्रवेश कर गया जहां से कोई आवागमन नहीं है इसलिए बड़े मजे की बात है कि भारत में हम शरीर को जलाते हैं सिर्फ सन्यासी के शरीर को नहीं जलाते कभी आपने ख्याल किया हो न किया हो सबके शरीर को जलाते हैं सिर्फ सन्यासी के शरीर को नहीं जलाते और बच्चों के शरीर को नहीं जलाते बच्चों के शरीर को इसलिए नहीं जलाते हैं कि बच्चों के अभी तीनों शरीर प्रकट ही नहीं हो पाए इसलिए बच्चे के शरीर में अभी अपवित्रता नहीं आई जब तक स्थूल शरीर प्रकट ना हो गया हो तब तक बच्चे का शरीर अपवित्र नहीं है ऐसा हमारा इन सारे ख्यालों के पीछे अनुगमन जो हुआ अनुसंधान हुआ वो ये है कि जब तक बच्चा स्थूल शरीर में प्रवेश ना कर गया हो मतलब काम वासना सजग ना हो गई हो तब तक उसके शरीर को जलाने की कोई भी जरूरत नहीं है तब तक उसका शरीर फूल जैसा पवित्र है उसे हम सीधा ही सौंप देते हैं मिट्टी को मिट्टी उसे सीधा ही आत्मसात कर लेगी लेकिन आप जान के हैरान होंगे काम वासना के जग जाने के बाद पहले अग्नि से शुद्ध करेंगे फिर मिट्टी को सौंपेंगे अपवित्रता प्रवेश कर गई इसलिए आग में जलाते हैं आग में जलाने का प्रयोजन कुल इतना है कि अपवित्र हो गया शरीर वासनाग्रस्त हो गया स्थूल तक पहुंच गई चेतना दूषित हो गई तो आग उसे शुद्ध कर दे आग उसे राख बना देगी फिर राख को हम मिट्टी को नदी को कहीं सौंप देंगे फिर दिक्कत न रही बच्चे को हम नहीं जलाते और सन्यासी को हम नहीं जलाते सन्यासी को न जलाने का दूसरा कारण है सन्यासी को न जलाने का कारण है कि जिसने अपने भीतर ही उन तीनों शरीरों को जला डाला अब हम और शुद्ध करने का क्या उपाय करें परम शुद्धि हो गई इसलिए हमारी आग किसी काम की नहीं जिसकी भीतर की आग जग गई और जिसने भीतर ही तीनों शरीरों को समाप्त कर लिया अब हमारी आग उसके किसी काम की नहीं उसे भी हम मिट्टी को सीधा सौंप देते वो सीधा ही ग्रहणी है मिट्टी उसे सीधा ही आत्मसात कर लेगी वहां भी कुछ अशुद्ध नहीं है बच्चे में अभी अशुद्ध हुआ नहीं था सन्यासी में शुद्ध हो गया है इसलिए हम सन्यासी और बच्चे को नहीं जलाते रहे मृत्यु तब तक मृत्यु है जब आगे जन्म होने को हो मृत्यु कहते इसलिए हैं कि जन्म होने वाला है ये उल्टा लगेगा बाकी भारत कहता है ऐसा है कि जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू जन्म होता है तो मृत्यु होती है मृत्यु होती है तो फिर जन्म होगा इसलिए हम महावीर या बुद्ध की मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते क्योंकि दूसरा पहलू ही नहीं है जन्म होने वाला नहीं ये मृत्यु नहीं है ये समाधि है ये मुक्ति है ये किसी दूसरी ही यात्रा पर निकल गई चेतना यह हमारे चक्कर के हमारी जो पटरी थी उससे नीचे उतर गई हमारी पटरी पर इसके लिए अब कोई जन्म नहीं है तो इसको हम मृत्यु कैसे कहें क्योंकि मृत्यु हम कह ही तब सकते हैं सार्थक रूप से जब जन्म होने वाला हो जन्म चूंकि नहीं होगा इसलिए इसे मृत्यु भी नहीं कहते इसे कहते हैं समाधि समाधि का अर्थ होता है जिसकी आत्मा समाधान को उपलब्ध हो गई अब ये बड़े मजे की बात है कि ध्यान की पूर्णता को भी हम समाधि कहते हैं और जीवन की पूर्णता को भी हम समाधि कहते हैं समाधि हम दोनों को कहते हैं सन्यासी की कब्र को भी हम समाधि कहते हैं जीवन की पूर्णता को भी हम समाधि कहते हैं ध्यान की पूर्णता को भी हम समाधि कहते हैं तीनों में कहीं कोई एक जोड़ है तीनों शायद एक ही जगह ले जाते ध्यान पूर्ण होता है तो जीवन पूर्ण होता है जीवन पूर्ण होता है तो ध्यान पूर्ण हो जाता है और जहां पूर्णता है वहां फिर मृत्यु नहीं है वहां समाधान है वहां फिर समाधि यात्रा का पथ ही बदल गया अब हम जन्म और मृत्यु वाले वर्तुलाकार चक्र में नहीं घूमेंगे अब हम चके से नीचे उतर गए हम किसी दूसरी यात्रा पर चले इस यात्रा में जीवन ही जीवन है न जन्म है न मृत्यु है इस यात्रा में जीवन ही जीवन है ये शाश्वत जीवन है लेकिन ये तीनों शरीर अंत कैसे हों इन तीनों शरीरों का लीनता कैसे हो संक्षिप्त में थोड़ी सी बातें ख्याल में ले लें फिर आगे के सूत्रों में और विस्तार से बात हो सकेगी ध्यान सूत्र है समाधि तक ले जाने वाला तो ध्यान ही सूत्र बनेगा इन तीनों शरीरों से मुक्त होने के लिए जागृत में ध्यान शुरू करें हम जागे हुए भी ध्यानपूर्वक जागे हुए नहीं होते रास्ते पर आप चल रहे हैं बिल्कुल जागे हुए चल रहे हैं लेकिन इसमें एक आयाम और जोड़ा जा सकता है जागे हुए चल रहे हैं ध्यानपूर्वक भी चले तो आप कहेंगे जब जागे हुए चल रहे हैं तो अब और ध्यानपूर्वक चलने का क्या मतलब होगा जागे हुए आप जरूर चल रहे हैं लेकिन ध्यानपूर्वक चलने का अर्थ है कि आपका एक पैर भी उठे हाथ भी हिले आंख भी उठे पलक भी झपे आप मुड़ के देखें तो ये सब ध्यानपूर्वक हो ये ऐसे ही मूर्छित ना हो जाए बुद्ध के सामने कोई बैठा हुआ है बुद्ध बोल रहे हैं और वह आदमी अपना पैर का अंगूठा हिला रहा है तो बुद्ध उससे रुक के कहते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है तो उस आदमी ने कहा आप भी कहां कहां की बातें उठा देते कहां आप ज्ञान की चर्चा कर रहे थे और कहां आपने मेरे अंगूठे लेकिन जैसे बुद्ध ने पूछा वो अंगूठा रुक गया उस आदमी ने कहा मुझे पता ही नहीं था मुझे ख्याल ही नहीं था ऐसी आदत बस हिल रहा होगा तो बुद्ध ने कहा देखो इसका अंगूठा है ये खुद का और ये हिल रहा अंगूठा इसका और इसको पता नहीं और ये कहता ऐसे हिल रहा होगा तो तू जागा हुआ है ये तो ठीक है कि जागा हुआ है क्योंकि मैं बोला तो तूने सुन लिया लेकिन तू ध्यानपूर्वक जागा हुआ नहीं ये अंगूठा तेरा हिल रहा है और तेरे ध्यान में नहीं जागने में ध्यान को जोड़ दें जो भी कर रहे हैं उसमें ध्यानपूर्वक हो बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग किया है ध्यान के लिए वो कीमती है इस लिहाज से बुद्ध ने उसके लिए कहा है सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस जो भी कर रहे हो वो ठीक ठीक सम्यक स्मृति पूर्वक हो बुद्ध कहते थे बाएं घूमे तो बाएं घूमने के साथ चित्त को यह पता चले कि मैं बाएं घूम रहा हूं एक आदमी गाली दे तो साथ में गाली सुनी भी जाए और यह भी जाना जाए कि इस आदमी ने गाली दी है और मैंने गाली सुनी है भीतर क्रोध उठे तो ये भी जाना जाए कि इस आदमी की गाली से भीतर क्रोध हुआ है और मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है और तब आप पाएंगे सारी स्थिति बदल गई क्योंकि जो आदमी देख रहा हो कि क्रोध उठ रहा हो उसका क्रोध उठ नहीं पाएगा जो आदमी देख रहा हो कि क्रोध पकड़ रहा है उसको क्रोध पकड़ नहीं पाएगा जो आदमी जान रहा हो कि अब क्रोध आता ही है उसको क्रोध आ नहीं पाएगा होश चित्त को बदल देगा तो जागृत में ध्यान अगर संयुक्त हो जाए और आपकी जागरण की सारी क्रियाएं ध्यानपूर्वक होने लगे तो आप एक शरीर से मुक्त हुए फिर इसी प्रक्रिया को स्वप्न में प्रवेश करना होता है तब स्वप्न में जाग स्वप्न में भी ध्यानपूर्वक सोते में भी ध्यानपूर्वक बुद्ध ने कहा है कि सो भी तो ध्यान पूर्वक सोना करवट भी बदलो तो ध्यान पूर्वक बदलना स्वप्न भी देखो तो ध्यान पूर्वक देखना लेकिन यह एकदम से शुरू नहीं किया जा सकता पहले जागृत में अगर ध्यान प्रवेश कर जाए तो आप स्वप्न के दरवाजे पर खड़े हो जाते फिर दरवाजे से प्रवेश हो सकता है स्वप्न में भी जो जागने में जाग गया हो ध्यान पूर्वक वो फिर स्वप्न में भी धीरे से ध्यान के तीर को अंदर ले जा सकता फिर आप स्वप्न देखते हैं और जानते हैं कि यह स्वप्न चल रहा है फिर ज्यादा दिन स्वप्न नहीं चल सकते जो होश पूर्वक देख रहा है वो हंसेगा और पागलपन साफ होगा और स्वप्न ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे और जाग गया जो भीतर स्वप्न टूटना लगेगा बिखरने लगेगा स्वप्न के लिए निद्रा जरूरी है बेहोशी जरूरी और जब स्वप्न समाप्त हो जाए ध्यान से तो फिर आप तीसरे दरवाजे पर खड़े हुए सुसुप्ति के अभी तो उसकी कल्पना ही करनी असंभव होगी क्योंकि नींद में कैसे ध्यान करेंगे जब बिल्कुल ही सो गए होश ही ना रहा तो कैसा ध्यान करेंगे लेकिन स्वप्न में जिसने प्रयोग किया हो वो फिर तीसरे में प्रवेश कर पाता है और जिस दिन कोई नींद में जाग जाता है स्वप्न में जागने से इस सूक्ष्म शरीर से छुटकारा हो जाता है सुसुप्ति में जागने से कारण शरीर से छुटकारा हो जाता है कृष्ण ने जो कहा है कि योगी तब भी जागता है जब सब सोते हैं सबकी निद्रा भी योगी का जागरण है वो इसी के लिए कहा है तीसरे ध्यान के प्रयोग के लिए सुसुप्ति में जब कोई होश पूर्वक हो जाता है ध्यान पूर्वक तो तीनों शरीरों से छुटकारा हो गया अब ऐसा व्यक्ति मरते वक्त जागा हुआ मरता है होशपूर्वक मरता है क्योंकि सुसुप्ति में वो जाग गया सुसुप्ति में मृत्यु घटित होती है अब वो जागा हुआ मरता है होशपूर्वक मरता है बुद्ध की मृत्यु आई तो बुद्ध ने कहा कि आज अब मेरी मृत्यु आती है अब आज मेरा भीतर मुझे साफ हो गया कि अब सब टूटने के करीब है तो तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो ये सुन के ही सबके हृदय बैठ गए पूछने का तो सवाल न रहा लोग छाती पीट के रोने लगे बुद्ध ने कहा रोने में तुम समय मत कमाओ क्योंकि मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगा बात मुझे भीतर साफ हुई जाती है वो वैसी साफ हुई जाती है जैसे कि किसी दिए का तेल चुक रहा हो और आपके पास आंखें हो अंधे ना हो तो साफ ही दिखाई पड़ेगा कि तेल चुका जा रहा है ज्योति बुझने के करीब तुम रोग हो मत चिल्लाओ मत वो तो हम अंधे हैं इसलिए दिया बुझता चला जा रहा हमको पता भी नहीं चलता तेल भी चुक जाता और हम ऐसे बैठे हुए जैसे कि सागर भरा हुआ है तेल का तो बुद्ध ने कहा यह तेल बिल्कुल चुकने के करीब है ये घड़ी दो घड़ी की बात है कि मेरी ये ज्योति जलती रहेगी तुम्हें कुछ पूछना हो पूछ लो रोने में मत गवाओ लेकिन वहां कौन सुनने को तैयार था बुद्ध अगर जागे होंगे सुसुप्ति में तो वहां तो जागे हुए सोए हुए लोग थे वो छाती पीत रहे रो रहे हैं वो सुन ही रहे नहीं रहे वो तो न मालूम किन ख्यालों में पड़ गए कि बुद्ध ना रहेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी मौजूद है अभी उनसे कुछ और भी सीखा जा सकता है तब बुद्ध ने तीन बार पूछा उनकी सदा की आदत थी बुद्ध की किताबें अभी जब छापी गई हैं तो बड़ी तकलीफ पड़ती क्योंकि हर बात वो तीन बार पूछते थे और हर बात वो तीन बार कहते थे तब किताब छापनी तो ना तीन गुना मालूम पड़ता है हमें लेकिन बुद्ध का कारण था वो कहते थे लोग इतने सोए हुए हैं कि एक बार में सुनता कौन तीन बार में भी कोई सुन ले तो बहुत है काफी जागा हुआ आदमी तीन बार बुद्ध ने पूछा कि मत रो मैं जाने के करीब हूं वक्त आ गया नाव खुल गई है किनारा छूटने को है दिया बुझने को है कुछ पूछना हो पूछ लो पूछने का कोई सवाल ना था तो बुद्ध ने कहा ठीक तो मैं अब मरूं दुनिया में ऐसा किसी आदमी ने कभी नहीं पूछा तो अब मैं मरूं तो अब मैं विलीन हो जाऊं तो वो आज्ञा लेकर वृक्ष के पीछे चले गए जहां बैठे थे वहां जाके आंख बंद करके बैठ गए एक शरीर से उन्होंने संबंध छोड़कर दूसरे में प्रवेश किया जब वे दूसरे ही शरीर में थे तब गांव से भागा हुआ एक आदमी सुभद्र आया और उसने कहा कि बहुत मुश्किल हो गई मैंने सुना कि बुद्ध की मृत्यु करीब आ गई गांव में खबर पहुंच गई मुझे कुछ पूछना है तो बुद्ध के भिक्षुओं ने कहा कि अब तो असंभव है अब तो वे मृत्यु में लीन होने की तरफ जा भी चुके और अब हम उन्हें खींचे उचित ना होगा और खींच भी हम कैसे सकेंगे हमें कोई उपाय भी पता नहीं कि अब क्या होगा उनकी श्वास शिथिल हो गई है हृदय की धड़कन सुनाई नहीं पड़ती है शरीर बिल्कुल मृत होने के करीब हो गया है नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन ने का कुछ तो करना ही पड़ेगा भिक्षुओं ने कहा कि ना समझ तेरे गांव से वो कितनी बार गुजरे सुबह ने कहा बहुत बार गुजरे लेकिन कभी मेरी दुकान पे भीड़ थी कभी घर में शादी थी कभी तबीयत ठीक ना थी कभी निकल ही रहा था कि कोई मिलने वाला आ गया ऐसे हर बार चुप गया फिर मैंने सोचा फिर कभी मिल लूंगा लेकिन आज तो मिलना ही होगा क्योंकि अब तो न मालूम कितने कल्पों तक वैसा आदमी मिले न मिले चिल्लाने लगा सुभद्र तो बुद्ध उठ के वापिस आ गए और बुद्ध ने कहा तू ठीक वक्त पे आ गया अगर मैं सूक्ष्म शरीर से भी नीचे उतर जाता तो फिर तेरी बात भी मुझे सुनाई ना पड़ती अभी मैं स्वप्न में था अभी उसको छोड़ ही रहा था अगर मैं सुसुप्ति में पहुंच जाता तो फिर बहुत मुश्किल पड़ती बहुत कठिन हो जाता तेरी आवाज मुझ तक पहुंचनी लेकिन सुसुप्ति से भी किसी तरह वापस लौटा जा सकता है लेकिन अगर सुसुप्ति भी टूट जाए तब तो फिर लौटने की कोई बात नहीं रह गई तो बुद्ध ने कहा कि मत रोको उसे वो कुछ पूछता है पूछ लेने दो नाहक मेरे ऊपर इल्जाम मत लगवाओ कि मैं जिंदा था और एक आदमी पूछने आया था और खाली हाथ वापस लौट गया बुद्ध पुनः चले गए हैं उसके उत्तर देकर और उन्होंने फिर एक एक शरीर को छोड़ दिया फिर वे चौथे में लीन हो गए खो गए ये तीन शरीर हैं और चौथी हमारी आत्मा है वो शरीर नहीं है वो चौथी हमारी स्वरूप अवस्था है ये तीन के खो जाने पर जो अनुभव होता है वही आनंद है वही अमृत है वही निर्वाण है वही मोक्ष इसी से प्राण मन और समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति होती है इसी से पृथ्वी की सृष्टि होती है जो आकाश वायु अग्नि जल और सारे संसार को धारण करती है ये जो चौथा है यही सारे जगत का आधार है परमात्मा है इसी से सब पैदा होता है और इसी में सब लीन हो जाता है Eastern psychology divides man's mind in three states deep sleep, dreamless sleep, dreaming, and the awake. Ordinarily, we are not aware even of the state which is called the awake. We are not aware. We live, we feel we are awake, but we live as if we are asleep. We move, we do things in a somnambulism. There is no awareness there is awakening. In the morning, when you come out of your sleep, you are in the awake, the first state. But you are not aware. You go, you move, you do things in a mechanical way, not consciously, not meditatively. any movement is possible unconsciously and consciously. You are eating. You can eat in a mechanical way, not aware of the process, not conscious, not mindful, just going on eating mechanically, unconsciously, robot like. You can walk on the street unconsciously, not even aware that you are walking, that your legs are moving. You go on moving, robot like. Someone hits you, someone abuses you, someone condemns you, anger bubbles up. Not, you are not aware. It works as if someone has pushed a button and the light is on. So someone abuses you, someone has pushed the button, and the anger is on. You are behaving in a mechanical way, not aware what is happening. Not aware that the anger is coming to you, that anger is surrounding you, that anger is is taking charge of your mind, of your body that now you will be pulled and manipulated by your anger no not not even aware you are not aware it just happens and you go on following a mechanical trend this so called awake state is the first on the periphery deep down just behind it is the second state, dreaming. Western psychology has taken note of dreaming only with William James, never before. Just in this century, just in the beginning of this century. With William James, dreaming became important, and with Freud, it took its own status. For the first time, it was recognized as significant and meaningful in the West. But in the East, for thousands of years, dreaming has been thought as very much significant, more significant than the first, the awake. Because in dreaming, you are more authentic, more real. Because in dreaming there is no fear of the society, no inhibition, no suppression. So your mind as it is begins to work. Freudian psychology studies not your waking hours, they are not meaningful, but your dreaming that is meaningful that shows your real face indian psychology says dreaming is the second state of human mind and it is not only a state but it corresponds to a body also the first state the awake corresponds with the gross body it is part of the gross body the material body that is that we know as the body the second state dreaming corresponds to second body which is known as subtle body that second body is just a body behind this body and indian psychology says and indian yoga has experimented for centuries and has come upon many, many facts that in a deep dream your subtle body can move out of your body. It can go, it can move, it can travel. Now, in the West also, astral traveling has become a prominent thing to be studied astral projection, how to project your astral body out, how to move from your body out, now is an accepted fact of parapsychology. But now only, and that too not universally accepted, only parapsychologists accept it that a subtle phenomena a subtle body can go out from this body and move and travel this sutra says dreaming is concerned with a second body not with this body which is known to us a second body is the dreaming body second state is dreaming and second body is subtle then there is a third state of the mind deep sleep or dreamless sleep total sleep not even a dream total sleep this corresponds to a third body which is known as the causal body you live in the outward outward world with your grass body. You live in a dream world, in a subtle world, with your subtle body. And you move from one body to another, from one birth to another, from one life to another, through your causal body, the third body. The causal body means the basic body. And beyond the causal is your real self. These are three bodies only, three surrounding bodies, three concentric bodies. And behind these three and beyond is the center, the self, the consciousness. This sutra says unless one is capable of disidentifying from these three bodies capable of knowing oneself apart, separate, beyond of all these three bodies. Unless one is capable of that, one will go on coming back to this earth in a, in a circle one will go on being born again and again, and then dying, and then being born again and again. If these three bodies can be known as the other, if you can recognize yourself different from these three bodies, the wake, the dreaming, the deep sleep, the grass, the subtle, and the causal. If you can feel, realize, know that you are beyond these three, only then this vicious circle of life and death ceases and you gain freedom and you gain bliss. What to do? How to be aware beyond these three bodies? the technique that can make you aware, that can make you transcend, that can create a situation in which you can witness all these three bodies standing out is meditation. But here by meditation is meant training of the consciousness in each body of mindfulness. Buddha has used this word mindfulness for meditation. He says, walk but mindfully. Don't just walk. Eat but mindfully. Think but mindfully. What is meant when I say think but mindfully? It's, it means let there be thoughts, but let there also be an awareness that there are thoughts. Just like you are sitting under the sky and clouds are moving. Look at the clouds. See the clouds and constantly and simultaneously be aware that you are seeing the clouds let your consciousness be two arrowed one arrow showing to the clouds another arrow showing to yourself seeing the clouds let your consciousness be double arrowed ordinarily our consciousness is one arrowed for example if you are listening to me you will forget yourself completely. If I say it, then suddenly you will remember. You have forgotten yourself completely. You are listening to me, so your consciousness has become one arrowed. Your consciousness arrowed towards me, the speaker. But where is the listener? You are not aware of yourself as the listener. Experiment. Make your consciousness double arrowed. Listen to me, but constantly remembering that you are listening. You need not repeat it, because if you repeat, then you will forget me, the speaker. If you repeat it in the mind that you are listening, in that moment you will not listen. Do not repeat it. Do not verbalize it. Words are not needed. Just be conscious, double arrowed. Of course, when you are, when I am speaking, you are listening. Speaking and listening are two points. Here I am speaking, there you are listening. There is a relationship. These are two arrows. Be aware of both, then you will transcend both. Neither you will be the listener nor the speaker, but a witness of both. This is what is meant by mindfulness. Do whatsoever, but remember the doer. Go on witnessing any process. Thoughts are moving in the mind. Look at them Observe them and remember. Remember that you are observing your thoughts. Then thoughts are somewhere like clouds in the sky moving and you are an observer. This observation, this witnessing, this awareness is the technique to transcend anybody. But first, always begin with the grass, the waking state. If you succeed in that, then you can succeed in the second. Then you can become aware of your dreams. You can dream and be simultaneously aware that a dream is floating, that a dream is unfolding, that a dream is going on then you can be aware. And if you become aware of your dream process, then you have transcended the, the second body, the subtle body. And then the last and most arduous is to penetrate into deep sleep with consciousness, to become aware of your sleep also. There is sleep, no dream. Sleep is surrounding you, still you are conscious that sleep is there. But this can happen only in a sequence. Begin with the first, otherwise, the third will be impossible, inconceivable. Go to the second, only then the third becomes possible. And if you can know that you are asleep, in sleep, not afterwards, not in the morning that I have had a very beautiful, good, nice sleep. Not afterwards. Presently, when you are asleep, be aware. If you can be aware of your sleep, you have transcended all the three bodies and all the three consciousnesses. And then you will know the fourth. Indian psychology says the fourth is your being. The three have been named, but the fourth has been just called the fourth. Turi, it has not been named. The fourth is your center. But that center is surrounded by three peripheries, concentric circles. Unless you transcend them, you will not know it. And unless you know it, no bliss is known. And no freedom is possible. But always begin with the first. When first is complete, only then begin with the second. Because only then a beginning is possible. Because if you become aware of the first, then you are at the door of the second. If you become aware of the second, then you are at the door of the third. If you begin become aware of the third, then you are at the door of the fourth. Without experiencing the first, all else is just inconceivable. Lastly, if you transcend all these three bodies then there is no birth again and of course no death the whole dimension changes you begin to move in a different dimension the dimension of the eternal the dimension of the non temporal the dimension of timelessness then you are not moving in time from one birth to another death, then again death and again birth. No, now you move from the circle of time to the ocean of timelessness. In this timelessness is the authentic existence, the ground of existence the ground of all being. And in that is freedom, because then there is no ego, then there is no boundary, then there is no I.